वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान जतलाते हैं कि वो इस्लाम ले आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए तुम अपने इस्लाम का मुझ पर एहसान न जतलाओ बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान फरमाता है कि उसने तुम्हें ईमान की तरफ हिदायत फरमाई अगर तुम सच्चे हो